ये वो लोग हैं जो अपने शहीद भाइयों के बारे में बैठे-बैठे ये बातें बनाते हैं कि अगर वो हमारी बात मानते तो कत्ल ना होते कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो खुद अपने आप ही से मौत को टाल देना